بسم الله الرحمن الرحيم وتحقيق ذلك أنه من جزئيات ذلك الكلام الذي تقتضيه الحال فإن الإنكار مثلا يقتضي كلاما مؤكدا وهذا مطابق له بمعنى أنه صادق عليه على عكس ما يقال إن الكلية مطابق للجزئيات वइन अरत तहक़ीक हादल कलामी फर्ज इला मा जकरना हुफिशर ही फी तारीफ इल्मानी यहाँ से मुसनफ़ अली रहमा एक तहक़ीक पेश करना चाहते हैं पीछे बलागत बलागत फिल कलाम के बारे में फरमाया था कि बलागत फिल कलाम किसको कहते हैं कि बलागतुल कलाम कहते हैं कलाम का मुख्तव हाल के मुताबिक होना कलाम के फसीह होने के साथ साथ कलाम का मुख्तव हाल के मुताबिक होना कलाम के फसी होने के साथ साथ इधर देखो दिखाएंगे तो ये तो तारीफ हुई थी फिर बतलाया था कि हाल किसको कहते हैं कि हाल वो अम है जो दाई हो बुलाने वाला हो तकाजा करने वाला हो किस चीज़ का खसूसियत किसी खसूसियत का उसको कहते हैं हाल और वो जो असल मुराद के साथ में कलाम के अंदर जो कोई खसूसियत होती है उस खसूसियत को कहते हैं मुख्त हाल और जो मकतब हाल है उसके अतबार से कलाम को ले आया जाए हाल जो तकाजा करता है उसके अतबार से कलाम को ले आया जाए तो फिर वो मकतब हाल की मुताबकत हो जाती है जैसे जेद आम्र है आम्र आम्र इनकार करने वाला है आम्र हमारा मुखातब है और वो इनकार करने वाला है किस बात का वो कहता है कि जेद घर में नहीं है देश भर में नहीं है तो ये अम्र हुआ मुनकिर और ये जो इनकार है ये एक हाल है इनकार एक हाल है ठीक है ना ये क्या चीज है देखो अमरुन ये ऐसा अम्र है जो दाई है किस बात का कि किसी खसूसियत को लाया जाए और वो खसूसियत क्या इनकार वाले के लिए खसूसियत क्या होनी चाहिए है? मुख्तज हाल ताकीद अरे मुख्तज हाल क्या है हाँ। ताकीद यानी इनकार वो इस बात की तरफ दावत देता है कि अभी ताकिद के साथ कलाम लेकर आओ ताकि इसका इनकार ख़त्म हो जाए हम्म। तो अब हम कलाम को ताकिद के साथ ले आए हमने कह दिया इन न जईदन बेशक जेद घर में है बिला शुबा जेद घर में है तो अब ये ताकिद के साथ कलाम को ले आना ये कलाम अब क्या हुआ मुताबत मुख्त हाल हो गया ये तो थी मुसनफ़ आली रहमा की बात मुसनफ़ आली रहमा से मुराद साहिब तलखीसमस्ताह अब्दुलरहमान अलकजवीनी ये थे अब आगे तहकीक उदारिका से मुसनफ़ रहमत अपनी एक तहकीक पेश कर रहे हैं कि वो तो चलो हमने मुसनफ़ की बात को हल किया है ठीक है मैं शारे हूँ अब आगे फरमाते हैं और इसकी तहकीक ये है कि वो अन्नहू मिन जुज़ियाति रालिकल कलाम उस कलाम की जुज़ियात में से हो जिसका हाल तकाजा करता है इसको ज़रा समझना पड़ेगा थोड़ा सा क्योंकि यहाँ इधर आ जाओ पहले ये कहते हैं शारह अलामा तख्तानी रहमत आले अपनी तहकीक के मुताबिक के उस कलाम कुल्ली का नाम मुख्त हाल है जो कलाम कुल्ली उस खसूसियत पर मुश्तमिल होगा ताकीद की खसूसियत पर जो कलाम कुल्ली मुश्तमिल होगा उसका नाम मुख्त हाल है हाल तो वही है जो हाल मातिन के नज़दीक है लेकिन मुख्त हाल को यह बदल रहे हैं और मुताबकत मुख्त हाल ये है कि मतकलम जो कलाम भी मुखातब के सामने पेश करेगा मुतकलम जो कलाम भी मुखातब के सामने पेश करेगा वो कलाम उस मुख्त हाल मुख्त हाल क्या है यानी वही कलाम कुल्ली कलाम मुक्द कुल्ली उसकी जुजियात में से हो और ये जो मुख्त हाल है यानी कलाम खुली है ये कलाम जुजी पर साजता है समझ में तो नहीं आ गया कुछ नहीं आया ना अब इसको जो है ये देखो पहले तो इसको सामने रखो इन्ना सईदन सिद्धार हो अब ये एक शख्स है मुखातब है जिसका नाम जो भी रख दो देर अम्र रख दो बकर रख दो कुछ और रख दो जमान रख दो तो ये मुखातब है अब ये मुखातब मुनकर है इनकार करने वाला है किस बात का इनकार करने वाला है ये कह रहा है कि देव घर में नहीं है ठीक है तो इसका ये इनकार ये एक हाल है हाल किसको कहते हैं जो दावत देने वाला होता है तकाजा करने वाला होता हो, होता है कि असल कलाम के साथ में किसी खसूसियत का एतबार किया जाए तो ये इनकार ये हाल ये तकाजा करता है कि कलाम को ताकीद के साथ लाया जाए ताकि इस मुखातब का इनकार ख़त्म हो जाए अब ये जो ताकीद है खसूसियत यानी ताकीद ये क्या है मुख्त हाल यानी हाल इसका तकाजा कर रहा है इनकार हाल है और ताकीद जो तो खसूसियत है वो क्या है मुख्तब हाल है अब हमने हम ताकीद के साथ कलाम ले आए मसलन इन्ना जैदन फिदार कहा तो अब इन्ना जैदन फिदार ये कलाम ले आना क्या हो गया मुख्तर हाल की मुताबकत होगी इसलिए हाल इस बात का तकाजा कर रहा था कि कलाम को ताकिद के साथ ले आओ हमने इन्ना दाखिल करके कलाम के साथ ताकिद के साथ कलाम ले आए ये तो है आसान बात दूसरी भी कोई इतनी मुश्किल ना है अब यहाँ आ जाओ ये मुसनफ़ की तहकीक के मुताबिक है मुखातब है सलेमान या कोई भी अब ये मुनकर है इनकार कर रहा है ठीक है ना तो इसका जो ये इनकार है ये है हाल इसका इनकार है हाल और मुकतद हाल क्या है ऊपर मुकतद हाल क्या था ताकीद है ना अब यहाँ जो मुकतद हाल है ये कहते हैं कि भाई मुकतद हाल है कलाम मुक्कद कलाम मुक्कद मताकिद था यहाँ पे कहते हैं कि भाई कलाम मुक्कद ये मुकतद हाल है अब इसकी जो जुजियात हैं इसकी कोई जुजई मिसाल के तौर पर इन्ना जैदन फिदार है ये भी कलाम मौक़द है अरे इन्ना जैदन फिदार बेशक जेद घर में है तो कलाम मौक़द है ना तो ये कलाम मौक़द तो हुआ है कुल्ली कला अल कलामकदू कलाम मौक़द ये कुल्ली है कुल्ली किसको कहते हैं जो बहुत से अफराद पर सादिक आ सकती हो तो कलाम मुकर है कुल्ली इसके बहुत सारे अपराध बन जाएंगे जैसे इन्ना जैदन किरदार बेशक जैद घर में है और इन्ना लकाइमन बेशक वो जरूर खड़ा है इन कदीर बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है तो जितनी भी मिसालें हैं ताकीद के साथ में वो सारी की सारी इस कलाम मक्कद की जुजी होंगी ठीक है ना तो अब यहाँ पर ये एक जुजी है इन्ना सैदन फिदार कहते हैं कि देखो मुताबकत मकतब हाल ये है कि जो इस कलाम मक्कद की जुजी हो वो जुजी कलाम मक्कद के मुताबिक हो जो जुजी हम ला रहे हैं वो कलाम मक्कद के मुताबिक हो और ये इन्ना सैदन फिदार क्या है कलाम मुक्द के मुताबिक है क्योंकि इसके अंदर भी क्या है ताकि है तो जब हम इसके मुताबिक जुज़ी ले आए इन्ना जैदन फिदार ले आए और ये इसके मुताबिक है हम्म तो अब जब ये इसके मुताबिक है तो यहाँ पर इस सूरत में अब ये मकसद हाल की मुताबकत हो गई ये क्या है मकसद हाल और जो जुजी लाए हैं वो जुजी इसके मुताबिक है तो अब कलाम अब मकसद हाल की मुताबकत हो गई यहाँ पर ये मकसद हाल की मुताबकत हो रही है इन नजीर सिद्धार यह कलाम वक़्त की जुजी अब चूंकि ये इसके मुताबिक आ गई तो इसके मुताबिक आ गई तो मकसद हाल की मुताबकत होगी वहां पर दूसरा अंदाज था थोड़ा सा तो ये बदल रहा है और फिर इसके अंदर ये बात भी है आगे इन्होंने मुसनफ़ ने कहा है बिमाना सादुक आली इस माना कर के वो कलाम मुअक्कद कुल्ली उस मिसाल पर सादिक आता हो कलाम मुअक्कद कुल्ली है अब ये इन्ना इधर किरदार पर सादिक आता है किस तरह कभी ये कलाम मुअक्कद का मतलब ताकिद वाला कलाम और ये भी क्या है ताकिद वाला कलाम तो इस तौर पर कहते हैं कि भाई ये है असल मुख्त हाल के मुताबिकत इसको कहते हैं जो मुसनफ़ ने कही है वो तो थोड़ी हल्की बात है लेकिन जो मजबूत बात है तहकीक जो है हमारी वो ये आगे समझ में चलो इसको अब फिट करो किताब से वतहकीका और इसकी तहकीक अनहू मिन जुजियाती जालिकल कलामी तकतजील हाल ये है कि वो उस कलाम की जुज जुजइयात में से हो उस कलाम मुक्द की जुजइयात में से हो जिसका हाल तकाजा कर रहा है तकाजा करता है देखिए जैसे यहाँ पर हुआ है ना ये कलाम मौकद इसी की जुजी क्या है इन नजीदन सिद्धार उस कलाम मक्द की जुजी में से हो कि जिसका हाल तकाजा कर रहा है लेकिन इनकार मिसाल के तौर पर वो तकाजा करता है कलाम मुक्द का वहादा और ये मिसाल जो हमने दी अब इन्ना इन्ना जैदन सिद्धार मुताबिक लहू वो उस कलाम मुक्द के मुताबिक हो मुताबिक है ना अगर उसमें ताकिद नहीं है तो वो उस कलाम मुक्द के मुताबिक है तो ही बेमाना अन्नहू सादकन आलिही इस माना में इस माना कर के वो कलाम मुक्कद उस मिसाल पर सादक आता हो कलाम मुक्कद उस मिसाल पर क्या होता है सादक आता है ये बात अब आगे फरमाते हैं अला अक्सी मा युकालू ये उसके बरअक्स है जो कहा जाता है इन्नल कुल्लिया मुताबिकुल लिल जुज़ियाती के कुल्ली वो जुजियात के मुताबिक है अब यहाँ पर एक एतराज सा आ गया क्या कि आपने ये कहा कि जो जुजी है वो किसके मुताबिक है कुल्ली के मुताबिक है कुल्ली क्या अरे यहाँ कुल्ली क्या थी कलाम मुआवकत कलाम मुआवकत जो कुल्ली है और ये जो जुजी पेश किया हमने नजीदन फिद्दार उसी की तो जुजी है ताकि के साथ है तो ये जुजई आपने कहा कि जुजई कलाम वाकत के मुताबिक तो जुजई कुल्ली के मुताबिक हुई हालांकि मनातिका ये कहते हैं कि कुल्ली वो जुजई के मुताबिक है तो तुमने तो उसके बराक कह दिया अरे मनातिका क्या कहते हैं कुल्ली जुजई के मुताबिक है और आपने क्या कह दिया कि जुजई कुल्ली के मुताबिक है तो आपने इसको बरात कैसे कर दिया तो उल्टा हो गया कहते के क्या बता मैं मुसन्फ में हूँ सारे चूंकि मुसन्फ ने जो मतन है मतन के अंदर इस अंदाज की बात की है तो मुझे भी मजबूरन ऐसा कहना पड़ा ये मनाती का तुम्हारी थोड़ी सी मुखालफत होगी कोई बात नहीं माफ कहते कि मेरी कोई इसमें वो नहीं है मेरा तो शरा मतन जो है मतन की शराह की है और उस शराह की वजह से ऐसा कहा है ठीक है ना व इन अरस्ता तहकीका हादल कलामी अब ये कहते हैं कि देखो अगर तुम चाहते हो इस कलाम की तहकीक क्या मैं तो जरा तुम अच्छी तरह से तहकीक करा दो तो ये तो मुख्तसर है छोटी सी किताब है इसमें तो करा नहीं सकता ज़्यादा ही अगर शौक हो तो ऐसा करो फर्जिया इलामा जकरना हो फिशरही तारीफ फी तारीफ तो तुम लौट जाओ कहा इलामा जकरना हो उस चीज़ की तरफ जिसको हमने जिक्र किया है फिर शरही शराह के अंदर कहाँ पर जिक्र किया है फी तारीफ इलमिल मानी इल्म मानी की तारीफ में कि जो हमने इल्म मानी की तारीफ के अंदर इसकी जो शराह है इसकी शराह का नाम क्या है तलखीसमफ्ता अरे क्या नाम है मुतवल हाँ। इसकी इसके शराह जो है मुतवल उस मुतवल के अं-, अंदर हमने इसको जिक्र कर दिया है ज़्यादा जी चाहे तहकीक करनी हो तो वहाँ देखो ठीक है कौन कौन करेगा चलो आगे वह हुआ अई मुख्तल हाली मुख्तलिफ फ़िन मकामत कलाम मुतफ़ावितन और वो वो यानी मुख्त हाल मुख्तलिफ है मुख्तज हाल मुख्तलिफ होंगे बात एकदम बिल्कुल जाहिर है क्यों फ़ैन मकामत कलाम मुतफावित इसलिए के कलाम के मकामात मुतफ़ावित होते हैं मुख्तलिफ होते हैं जैसा मुख्तब हाल होगा जैसा कलाम का मकाम होगा जैसा हाल होगा ऐसी मकसद हाल होगा बदलता बदलता रहेगा मिसाल के तौर पर कहीं हाल होगा इनकार तो उसके साथ कलाम आएगा अरे वहाँ कलाम कैसे लाना पड़ेगा मुख्तज हाल क्या होगा कि कलाम को ताकिद के साथ लाया जाए और कहीं हाल होगा क्या खाली जहन कि ये खाली जैन है तो वहां पर क्या है कि बगैर ताकिद के साथ कलाम को लाया जाए खाली जहन के सामने बगैर ताकिद के कलाम को लाया जाए तो अब यहाँ पर बगैर ताकिद के कलाम को लाना ये मुख्तज हाल होगा तो इसी तरीके से चूंकि हाल ये मुख्तलिफ होते हैं इसलिए मुख्तज हाल भी मुख्तलिफ होंगे उसी को बतला रहे हैं क्यों होंगे لأن الاعتبار اللائق بهذا المقام يغاير الاعتبار اللائق بذلك इसलिए कि एतबार यानी अशयलमतबर वो चीज़ जिसका एतबार किया गया है वो मुनासिब होगी इस मकाम के जो मुनासिब होगी इस मकाम का अरे एक चीज़ जो इस मकाम के मुनासिब होगी युगायर अलतबार लाइक बिहारा विदा का वो मुगायर होगी अलबारा उस एतबार के अल्लाह का विदा का जो उसके मुनासिब है तर्जमा थोड़ा ऐसी है इसलिए कि एतबार जो मुनासिब होगा इस मकाम के वो उस एतबार के मुगायर होगा मुखालिफ होगा जो उस मकाम के मुनासिब है अरे इस इस मकाम के जो मुनासिब होगा तो वो दूसरे मकाम के क्या होगा मुखालिफ हाँ, होगा ये फरमाना चाहते हैं वहादा आइन तफावती मुख्तियात अहवाल और ये मुख्तियात अहवाल का के तफावत का आयन है यानी ये बेआन ही मुख्तियात अहवाल का फ़र्क है तफावत है यहाँ पर एक बात समझनी है एक है हाल एक है मकाम हाल और मकाम असलन तो दोनों एक ही चीज़ें हैं सिर्फ एतबारी फ़र्क है तो मैं यहाँ पर इन्होंने कहा है हुआ हुआ आई मुख्तल हाल ही मुख्तलिफ और वो यानी मुख्त हाल मुख्तलिफ है इसलिए के मकाम कलाम मुतफावित हैं मुख्तलिफ हैं तो यहाँ इनको ये कहना चाहते हैं इसलिए कि अहवाल कलाम मुतफावित हैं कि कलाम के जो अहवाल होते हैं हाल होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं इसलिए क्या हो जाता है मकतज हाल भी मुख्तलिफ हो जाते हैं ये तो बात थी ना कि हाल मुख्तलिफ होंगे तो क्या हो जाएंगे मकतज हाल भी मुख्तलिफ हो जाएंगे लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या कहते दिया कि मकतज अहवा हाल मुख्तलिफ हैं क्यों इसलिए कि मकामात कलाम मुख्तलिफ ये कहना चाहिए था इसलिए कि अहवाल कलाम कलाम के जो अहवाल होते हैं वो मुख्तलिफ हुआ करते हैं कहते हैं कि भाई इनके अंदर जो फ़र्क है वो फ़र्क एतबारी है अगर एतबार क्या है हाल के अगर इन, अगर जमाने में होने का एतबार क्या है कलाम के वारिद होने के लिए जमाने में होने का एतबार किया तो वहां पर यह हाल के अंदर हो गया और अगर जगह का एतबार किया तो मकान के लिए देखो तो इबारत से उसको मिलाना यह तर्जुमा देखो जरा लिया तगाजुरा बैनल हाली वल मकामी इसलिए के तगायुर हाल और मकाम के दरमियान इन नमा हुआ बेहसबिल एतबारी वो सिर्फ एतबारी एतबार के एतबार से है यानी सिर्फ फ़र्क एतबारी है वह हुआ नहू युतवाहमु कलाम फी और वो ये है कि वहम किया जाता है ख्याल किया जाता है हाल में उसके जमाने का कलाम के उसमें वारिद होने के कलाम के उसमें वारिद होने का और मकाम में उसके कलाम के महल में होने का यानी अगर ये जो कलाम है हुँ? हम्म, फिलहाल हाल के अंदर अगर जमाने का एतबार करो कलाम के वालिद होने के लिए जमाने का एतबार करो तो हाल के दिए जाते हैं और अगर जगह के एतबार करो महल का एतबार करो कि वो तो उस जगह में कहा जा रहा है तो उस वक्त क्या कह दिया जाता है हाल कह दिया जाता है तो ये एतबार फ़र्क है कोई असलन फ़र्क नहीं है इसीलिए वहम का लफ्ज लेकर आए हम ख्याल किया जाता है और वो ये है कि वहम किया जाता है ख्याल किया जाता है हाल के अंदर उसके ज़माने में होने का कलाम के उसमें वारिद होने की वजह से और मकाम में होने का मकाम में उसके महल लहू उसके महल में होने का एतबार से وفي هذا المقام إشارة إجمالية إلى ضبط مقتضيات الأحوال وتحقيق لمقتضى الحال اب آگے یہ متن آ رہا ہے فمقام كل من التنكير والاطلاق والتقديم والذكر يباين مقام خلافه اسی طرح نیچے آ رہا ہے ومقام الفصل يباين مقام الوصل ومقام الإيجاز يباين مقام خلافه ये इसके बारे में फरमा रहे हैं मुसन्फ कि इसके अंदर इशारा है काय का इसके मुनहसर होने का मुख्त अहवाल के मुनहसर होने का यहाँ पर इजमाली तौर पर हमने मुनहसर करके बतला दिया है कि ये मुख्त अहवाल हुआ करते हैं और मुख्त हाल की तहकीक वो आगे आएगी यहाँ पर फमुख्तल हाली हुआ अतबार मुनासिब अगले सफ़े में अगले सफ़े में अरे कुछ पहले पढ़ गई ना पढ़ गई क्या कह रहा हम्म? नहीं समझ में अबे यार ठीक है ना फमकाम कुल्लिम तनकीर हम्म, और इसी तरह नीचे की इबारत है वह मकाम फसली फिर उसके बाद अलीजाजुबाइन मकाम खिलाफी ही तो ये बतलाना इसके अंदर ये चाहेंगे कि मुख्तियात अहवाल ये हुआ करते हैं यानी अहवाल का तकाजा करने वाली हालत का तकाजा करने वाली चीज़ें ये सब होती हैं और मुख्त हाल क्या चीज़ है उसकी तहकीक यहाँ से करेंगे हाली चाहते हैं इसमें क्या है नहीं समझ में अरे नहीं आई समझ में नहीं आई तो यू कहो नहीं आई और आई तो यू कहो आई हम्म? हाँ तो यू कह दो ना आई देखो वफी हावल कलामी और इस कलाम में कौन से कलाम में कौन से वाले में ये आगे जो है फमकाम कुल्लिम मिनत तनकीरी ये जो मतन शुरू हो रहा है हाँ वही तो मैं बता रहा हूँ और इस कलाम में कौन सा कलाम में आगे जो आ रहा है मतन के अंदर फमकाम कुल्लिम मिनत तनकीरी वल इतलाकी व तकदीमी व जिक्री युगायुन मकाम खिलाकी और वह मकाम फसली नीचे मतन युगायुन मकाम वसली फिर इधर आ जाओ अल इजाज़ु मकाम इजाज़ी युबाइन मकाम खिलाफी ये जो चल रही है इसके अंदर बदला रहे हैं और इस कलाम में इशारा है इशारे इजमालिया है इजमाली इशारा है बाकी सराहत के साथ और तफसील के साथ तो वो इसमें मानी के बयान में आएगा किस चीज़ की तरफ इशारा है इलाबती मुख्तिल अहवाली मुख्त अहवाल के मुनहसर करने की तरफ कि देखो मुख्तयात अहवाल वो इन चीज़ों में मुनहसर हैं आई मुख्तयात अहवाल अरे जो हाल हम्म वो चीज़ें जिनका हाल तकाजा करता है वो इनके अंदर मुनहसर हैं हाँ जो आगे आ रही हैं और क्या है इसके अंदर वह तहकीक मुख्तल हाली और तहकीक है किसकी मुख्त हाल की मकतज़ हाल की तहकीक यहाँ आएगी बस तबेरी तो मकतज़ हाली हुल एतबार मुनासिब हाली तो वहाँ बताएंगे जब आएगी देखो फमकाम कुल्लिमिन तनकीरी वल इतलाक़ी व तकदीमी व ज़िक्री युबाइन मकाम खिलाफी बस तनकीर इतलाक तकदीम जिक्र में से हर एक का मकाम उसके खिलाफ के मकाम के मुबाइन है मुखालिफ है किसके खिलाफ के अई खिलाफा कुल्लिम मिनहा उनमें से हर एक के खिलाफ के मुबाइन है क्या कह दिया है फमकाम कुल्लिम मिनत तनकीरी इनमें सब आयत को अलग अलग कर दो ये कहो मकाम तनकीरी युबाजिन मकाम खिलाफी मकाम तनकीरी अरे ये ना बीच में कुल्लिम मिन कुल्लिम मिन कुल्लिम मिन को हटा दो क्या कहो मकाम तनकीरी बीच में आ जाओ युबाजिनू पे आ जाओ युबाजिनू युबाजिनू मकामा खिलाफी बस तनकीर का मकाम उसके खिलाफ के मकाम के मुबाइन है तनकीर का मकाम यानी नकीरा लाने का मकाम ये उसके खिलाफ के मकाम के मुबाइन है उसके खिलाफ का मकाम क्या होगा तारीफ मारफा अरे नकीरा लाने का मकाम इमारफा लाने के मकाम के क्या होगा मुखालिफ होगा ये कहना चाहते एक जगह कहलाने नकीरा और इसका खिलाफ क्या है मारिफा तो मारिफा का मकाम वो नकिरा के खिलाफ होगा बिल्कुल जाहिर बात है तो नहीं है जाहिर नहीं इसी तरह मकामुल इतलाकी मकाम खिलाफी इतलाक का मकाम उसके खिलाफ क्या मकाम के मुबाइन होगा क्या मतलब समझाओ बताओ बताओ है आसान बात है ये भी नहीं समझा सकता बताओ बताओ क्या है इसमें तो कोई एज पेज भी ना है मकाम इतलाकी युबाइन मकाम खिलाफ ही इतलाक का मकाम मुतलक लाने का मकाम उसके खिलाफ के मकाम के मुबाइन है मुखालिफ है उसके खिलाफ क्या है तकदीर तकदीर मुकैद करना अरे इसका वो तो है इतलाक का मकाम उसके खिलाफ उसके खिलाफ तो मुराद अरे मकामत क्या आएगा मकामत है मकामत तकदीरी आज कल आसान बात है मुझे समझ रहा चलो हम्म। देखो फवाकाम कुल्ल मिनत तनकीर तनकीर हाँ तुम तो बताया था मकाम तनकीरी मकाम खिलाफी अई मकाम खिलाफी तारीफी कि तनकीर का मकाम नकीर लाने का मकाम वो मुखालिफ है मुबाइन है किसके मारफ लाने के मकाम के है ना उसके खिलाफ क्या है तारीफ मकाम तारीफ तारीफ के मकाम के मुबाइन है इसी तरह हर एक को जोड़ लेंगे मकाम इतलाकी युबाइन मकामा हम्म, मकामत तकी अरे मुकैद लाने के मकाम की क्या है खिलाफ है और तकदीम को भी इसी तरह जोड़ दो मकाम तकदीमी युगाजिन मकामत तखीरी अरे मौखर लाने के मकाम के मुगर है क्या मुकदम लाना और व जिक्र मकाम जिक्र युगाजिन मकाम मकाम हजफी जिक्र का मकाम हज के मकाम के मुबाइन है आगे ना समझ में गलती में जाएगी समझ में आएगी आई क्या खिलाफी कुल्लिम मिनहा उनमें से हर एक के खिलाफ है यानी अन्नल मकाम अल्लजी युनासिबू तनकीर मुसनदी लही अविल मुसनदी युबाजिन युनासिबू तारीफ वही बात बतला रहे यानी वो मकाम जिसके मुनासिब मुस्नद इलेह या मुस्नद को नकीरा लाना है युबाइनु वो मुबाइन है मुखालिफ है अलमकाम उस मकाम के जिसके मुनासिब मारूफा लाना है हो गया ना हल हम्म ऐसे ही वह मकाम हुक्मी अविल ताल्लुकी अविल मुस्नदी इलेही अविल मुस्नदी अव मुतल युबाइनु मकाम तकयीदी बमक्दिन अव अदात कसरिन अव ताबिन अव शर्तिन अव मफूल अव माशबा और इतलाक का मकाम अरे हुक्म को मुतलक लाने का मकाम या ताल्लुक का मकाम ताल्लुक वही जरब तो जैदन मैंने जैद को मारा तो ये जैद क्या इससे मुतल होता है इसका मफूल होता है या मुस्ंद इले या मुस्ंद या मुतल मुस्ंद का मकाम युबाइन मुखालिफ है किसके उसके मुकैद लाने के ताकिद के साथ या अदात कसर के साथ अदात कसर यानी जिससे हसर पैदा होता हो जैसे मिसाल के तौर पर एक मिसाल भी दी इन्होंने माजिदन आना इन नमा के साथ भी हसर होता है कसर होता है और यहाँ भी एक मिसाल है माजिदन अना मैं ही कायमन मैं ही खड़ा हूँ हाँ माँ जईदन जैद नहीं है इल्ला कायमन ठीक है माँ जैदन इल्ला कायमन जैद नहीं है मगर खड़ा होने वाला यानी जैद खड़ा ही है तो देखो यहाँ पर ये आदाद कसर के साथ है तो ये बतला रहे हैं कि उसके मुकैद लाने ताकीब के साथ या अदात कसर के साथ यानी हरूफ कसर या ताबे के साथ या शर्त के शर्त के साथ या मफूल के साथ या उन चीज़ों के साथ जो उसके मुशाबे हैं जैसे हाल और तमीज़ इनके मकाम के मुबाइन है मुखालिफ है ठीक है ऐसे ही व मकाम तकदीद मुस्ंदी इलही अबिल मुस्ंदी हाँ तकदीम मुस्ंदी इलही अविल मुस्ंदी और मतलक़ाती ही युबाजिन मकाम तखीरी ही और मुस्ंद इले या मुस्ंद या मुतलक़ात मुस्ंद का मकाम मुबाइन है किसके यहाँ तकदीम आता ना नीचे तखिर आ गया उसके मखर के मकाम के वो कदा और ऐसे ही मकाम जिक्री ही युबाइन मकामा हजफी ही उसके जिक्र का मकाम उसके हज के मकाम के मुबाइन है फ़कौल खिलाफ बस मुसनफ़ का कौल खिलाफ शामिल लिमा जकरना ये शामिल है उसको जिसको हमने जिक्र किया अरे वहाँ मुसनफ़ ने क्या कहा था मकाम खिलाफी ये जो है मुसनफ़ का कौल खिलाफी सिर्फ ये वाला ये इतनी सी बात किसको शामिल है जो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी की पूरी बात जिक्र कर दी है ये शराई है ना ये सारी की सारी शराब ये एक लफ्ज के बदले में है चलो अच्छा।